भय से अभय की ओर सदगुरु ओशो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 27 भय रहित शांत चित्त कहते हैं ठीक से शांत हुए मन वाला भय रहित और अच्छी प्रकार शांत चित्त वाला महत्वपूर्ण है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भय जिसे है वो परमात्मा में प्रवेश ना कर पाएगा क्यों तो भय को थोड़ा समझ लेना पड़ेगा भय है क्या वस्तुतः भय का मूल आधार क्या है भयभीत क्यों हम क्या है मूल कारण जिससे सारे भय का जन्म होता बीमारी का भय है दिवालिया हो जाने का भय है इज्जत मिट जाने का भय है हजार हजार भय लेकिन भय तो गहरे में एक ही है तो वो मृत्यु का भय बीमारी भी भयभीत करती है क्योंकि बीमारी में मृत्यु का आंशिक दर्शन शुरू हो जाता है गरीबी भयभीत करती है क्योंकि गरीबी में भी मृत्यु का आंशिक दर्शन शुरू हो जाता है अप्रतिष्ठा भयभीत करती है क्योंकि अप्रतिष्ठा में भी मृत्यु का आंशिक अंश दिखाई पड़ने लगता है जहां जहां भय है वहां वहां मृत्यु का कोई अंश दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष ना भी दिखाई पड़े थोड़ा खोज करेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि मैं भयभीत क्यों हूं कहीं ना कहीं कुछ मुझ में मरता है तो मैं भयभीत होता हूं चाहे मेरा धन छूटता हो तो धन के कारण जो सुरक्षा थी भविष्य में कि कल भी भोजन मिलेगा मकान मिलेगा मर नहीं जाऊंगा धन छिनता है तो कल खतरा खड़ा हो जाता है कि कल अगर भोजन न मिला तो प्रतिष्ठा है धन ना हो पास में तो भी आशा कर सकता हूं कि कल कोई साथ देगा कल कोई सहयोग देगा लेकिन प्रतिष्ठा भी खो जाए तो डर लगता है कि कल इस इस बड़े जगत में कोई साथी संगी ना होगा तो क्या होगा जहां भी भय है वहां थोड़ी सी भी खोज करेंगे थोड़ा सा खोजेंगे तो स्किन डीप कुछ और कारण भला हो लेकिन जरा सी खरोच के बाद गहरे में मृत्यु खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी मृत्यु ही भय है और सब भय उसके ही हल्के डोज उसके ही हल्की मात्राएं मृत्यु का भय एकमात्र भय है कृष्ण कहते हैं कि अभय को उपलब्ध हो कोई भय रहित हो कोई तो ही ध्यान में गति है तो ही समाधि में चरण पड़ेंगे तो क्या बात है यहां समाधि और ध्यान से भय को लाने की क्या जरूरत यहां मौत का सवाल कहां है यहां है मौत का सवाल है महामृत्यु का सवाल क्योंकि साधारण मृत्यु में तो सिर्फ शरीर मिटता है आप नहीं मिटते सिर्फ वस्त्र बदलते हैं आप नहीं बदलते आप तो पुनः फिर पुनः पुनः नए शरीर नए वस्त्र धारण करते चले जाते हैं तो साधारण मृत्यु जो जानते हैं उनकी दृष्टि में मृत्यु नहीं केवल शरीर का परिवर्तन है ग्रह परिवर्तन नए घर में प्रवेश पुराने घर का त्याग है लेकिन ध्यान में महामृत्यु घटित होती है आप भी मरते हैं शरीर ही नहीं मरता आप भी मरते हैं मैं भी मरता है वो अहंकार और इगो भी मरती है मन मरता है तो स्वभावता जब शरीर के ही मरने में इतना भय लगता है तो मन के मरने में कितना बैन लगता होगा और इसलिए अभय हुए बिना कोई ध्यान में प्रवेश न कर सके जैसा कृष्ण ने कहा भय रहित ऐसा ही महावीर ने अभय को पहला सूत्र कहा है अभय हुए बिना कोई ध्यान में ना जा सके क्योंकि थोड़ी ही देर थोड़ी ही भीतर गति होगी और पता चलेगा ये तो मृत्यु घटने लगी ध्यान के अनुभव में मृत्यु का अनुभव आता ही है अनिवार्य उससे कोई बच के नहीं निकल सकता जब आप ध्यान में गहरे उतरेंगे तो वो घड़ी आ जाएगी जहां लगेगी कहीं ऐसा तो ना होगा कि मैं मर जाऊं लौट चलूं वापस ये किस उपद्रव में पड़ गया वापस लौटो ध्यान से न मालूम कितने लोग वापस लौट आते हैं सिर्फ भीतर वो जो मृत्यु का भय पकड़ता है उसकी वजह से वापस लौट आते हैं और मजा यह है कि वही क्षण है पार होने का उसी क्षण में अगर आप निर्भय प्रवेश कर गए तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे और अगर उससे आप वापस लौट आए तो जहां आप थे वहीं आ जाएंगे और एक खतरा और ले आएंगे वो ये कि अब ध्यान में जाने की हिम्मत भी ना कर सकेंगे क्योंकि वो मृत्यु का डर अब और गहरा और साफ हो जाएगा जब ध्यान में मृत्यु की प्रतीति होती है तब आप अमृत के द्वार पर खड़े हैं अगर भयभीत हो गए तो द्वार से वापस लौट आए और अगर प्रवेश कर गए तो अमृत में प्रवेश कर गए फिर कोई मृत्यु नहीं है मृत्यु में प्रवेश करके ही अमृत का अनुभव होता है मिटकर ही जानना पड़ता है उसे जो है स्वयं को खोकर ही पाना पड़ता है उसे जो सर्व है इसलिए ठीक है कृष्ण अगर कहें कि भय रहित चित्त से ही प्रवेश संभव है इधर मेरा रोज का अनुभव है सैकड़ों व्यक्ति कितनी आतुरता और कितनी प्यास से ध्यान में प्रवेश करते हैं लेकिन शीघ्र ही जो ज्यादा श्रम नहीं करते उनको तो अड़चन नहीं आती क्योंकि वो उस बिंदु तक भी नहीं पहुंचते जहां मृत्यु का अनुभव हो लेकिन जो जरा ज्यादा श्रम करते हैं वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु दिखाई पड़ने लगती कि मैं मरा मैं गया अब अगर एक कदम आगे बढ़ता हूं भीतर तो अब मैं नहीं बचूंगा सब टूट फूट बिखर जाएगा फिर लौट नहीं सकूंगा ये प्रतीत इतनी प्रगाढ़ होती है ये पूरे प्राणों को इस भांति पकड़ लेती है कि साधक भाग के बाहर आ जाता ये रोज घटता है इसलिए ध्यान में जाने वाले साधक को जो उसे ध्यान में जाने का मार्ग निर्देश कर रहा है उचित है कि कहता रहे कि भय को छोड़ देना मृत्यु घटित होगी वो क्षण आएगा जब भय पकड़ेगा वो क्षण आएगा जब सब भीतर ऐसा लगेगा कि खो गया सब खो रहा है डूब रहा हूं सागर में अतल गहराई में लौटने का अब शायद कोई उपाय ना होगा वो क्षण आएगा ही ये अगर पूर्व सूचना दे दी गई हो तो साधक जब पहुंचता है उस क्षण में तो निर्भय हो साहस बांध छलांग लगा पाता है अगर ये पूर्व सूचना न दी गई हो तो बहुत संभावना यही है कि साधक वापस लौट आए घबरा जाए लौट आए साधक को बड़ी तकलीफ हो जाती है तकलीफ तो यह हो जाती है बड़ी कि अब वो ध्यान की तरफ जाने की हिम्मत अब ना जुटा पाएगा अब ये स्मरण उसे सदा पीछा करेगा कि अब वो ध्यान की बात ना सोच पाएगा और भी एक खतरा है वो भी मैं आपसे कह दूं कि जो साधक इस भांति मृत्यु से भयभीत होकर लौट आता है बहुत संभावना है सौ में कम से कम 30 प्रतिशत लोगों को कि वो थोड़े से विक्षिप्त हो जाएं क्योंकि जो उन्होंने देखा है मिटने का जो अनुभव उनके निकट आया वो उनके सारे स्नायुओं को कपा जाता है उनके हाथ पैर कपने लगेंगे उनका चित्त भय से सदा घबराया हुआ रहने लगेगा वो नींद लेने तक में डरने लगेंगे उनका डर बढ़ जाएगा इसलिए ध्यान में कोई भी जाए तो ये जान के जाए ठीक से परिचित होकर जाए कि मृत्यु की प्रतीति होगी भय कुछ भी नहीं है क्योंकि वो मृत्यु की प्रतीति सौभाग्य है वो उसको ही होती है जो ध्यान के बिल्कुल मंदिर के द्वार पर चढ़ के पहुंच जाता है उसको ही उसके पहले नहीं होती वो आखिरी प्रतीति है मन की मन मरने के पहले आखिरी बार आपको घबराता है कि मर जाओगे लौट चलो अगर आप न घबराए तो मन मर जाता है आप बच जाते हैं आपके मरने का कोई उपाय नहीं आप नहीं मर सकते लेकिन अभी तक आपने समझा कि मैं मन हूं इसलिए जब मन कहता है मर जाऊंगा तो आप समझते हैं मैं मर जाऊंगा वो आपकी भ्रांति स्वाभाविक है स्वाभाविक लेकिन सही नहीं स्वाभाविक लेकिन सत्य नहीं इसलिए जो भी ध्यान का निर्देश करेगा जैसा कृष्ण अर्जुन को निर्देश कर रहे हैं तो वो उन सारी बातों का निर्देश करेंगे ही जिन जिन की जरूरत पड़ेगी तो एक निर्भय और ठीक रूप से शांत हुए मन वाला ठीक रूप से शांत हुए मन वाले का क्या अर्थ इससे बड़ी इस ठीक से शांत मन वाला इस शब्द से इन शब्दों के समूह से बहुत सी गलत व्याख्याएं प्रचलित हुई एक तो जब कृष्ण कहते हैं ठीक से शांत हुए मन वाला तो इसके दो मतलब साफ हो गए कि ऐसी शांति भी हो सकती है जो ठीक से शांति ना हो गलत किस्म की शांति भी हो सकती है इसका मतलब साफ है अशांति तो गलत होती ही है ऐसी शांतियां भी हैं जो गलत होती हैं इसलिए तो ठीक से शांत इस शर्त को लगाना पड़ा है इसलिए आप सब तरह के शांत हुए लोग ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे इस भ्रांति में मत पड़ना गलत ढंग से शांत हुए लोग भी हो सकते कौन से ढंग से आदमी गलत रूप से शांत हो जाता है ऐसी बहुत सी विधियां प्रचलित हैं जिससे आपको शांति का भ्रम पैदा हो सकता है वो गलत रूप की शांति है जैसे इस तरह की हिप्नोटिज्म सम्मोहन की विधियां हैं जिनसे आपको प्रतीति हो सकती है कि आप शांत हैं अगर आप कुएं से पूछें इमाइल कुएं से वो पश्चिम के एक बड़े हिप्नोटिस्ट विचारक तो वो कहते हैं शांत होने के लिए और कुछ करना जरूरी नहीं है सिर्फ अपने मन में ये दोहराते रहें कि मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं इसे दोहराते रहे गो ऑन रिपीटिंग इट रात सोते वक्त दोहराते रहे मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं शांत हो रहा हूं दोहराते दोहराते सो जाएं कब नींद आ जाए पता ना चले आप दोहराते रहे मैं शांत हो रहा हूं आप मत रुके नींद आ जाए रोक दे बात अलग आप दोहराते चले जाएं अगर रात सोते वक्त आप दोहराते रहे मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं तो नींद का क्षण जब आएगा तो आपका चेतन मन तो सो जाएगा वो जो दोहरा रहा था मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं लेकिन मैं शांत हो रहा हूं इसकी प्रतिध्वनि अचेतन में गूंजती रह जाएगी वो रात भर आपके भीतर गूंजती रहेगी मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं कुएं कहते हैं सुबह जब नींद खुले तो पहली बात मन में दोहराना मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं मैं शांत हो रहा हूं जब भी स्मरण आ जाए दोहराना मैं शांत हो रहा हूं इस भांति अगर आप दोहराते रहें तो आप अपने को ऑटो हिप्नोटाइज कर लेंगे आपको अशांति रहेगी लेकिन पता नहीं चलेगी आपको लगेगा मैं शांत हो गया ये स्वयं को दिया गया धोखा है ये शांति झूठी है ये शांति केवल भ्रम है लेकिन ये हो जाता है मन की ये क्षमता है कि मन अपने को धोखा दे सकता है मन की बड़ी क्षमता सेल्फ डिसेप्शन खुद को धोखा देना मन की बड़ी क्षमता है अगर आप दोहराए चले जाएं तो यह हो जाता अब तो मनोवैज्ञानिक इसको बहुत ठीक से स्वीकार करते हैं कि यह हो जाता है